पूज्य संत महानुभाव संत प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों जीवन की पूर्णता देव तत्व की अभिव्यक्ति में है यह है हम सभी साधक भाई बहनों के लिए जीवन के लक्ष्य के रूप में सामने रखना आरंभ कहाँ से किया था आरंभ किया था यहाँ से कि जैसे ही अपने लोगों को पता चलता है कि मैं मनुष्य हूँ मन की और तन की बहुत सी इच्छाएं आवश्यकताएं खड़ी होती हैं तो हमारी दृष्टि आराम पर नहीं रह करके आराम देने वाली वस्तुओं पर टिक जाती है अन्न चाहिए शारीरिक भूख जुटाने के लिए वस्त्र चाहिए शरीर को ढकने के लिए शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में तत्काल उसी समय उत्पन्न हुआ असंतुलन उत्पन्न हुआ तनाव खत्म होगा तो विराम मिलेगा इस बात को हम भूल जाते हैं तो किस लिए अन्न का संग्रह करें किस लिए वस्त्र का संग्रह करें किस लिए धन का संग्रह करें ये दृष्टि में से ये चीज निकल ही जाती है कि अपने को आराम चाहिए ये दो खास बात है वो दृष्टि में से हट गई और आराम के लिए संग्रह की मनोवृत्ति बढ़ गई अन्न का संग्रह और वस्त्र का संग्रह और धन का संग्रह यह मनुष्य को कभी भी आराम से रहने नहीं देता है थोड़ा सा ही इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही सामान्य वैज्ञानिक स्तर की चीज है अलौकिक जीवन की बात नहीं है शरीर और मन के साथ सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ तादाद रखते हुए हम लोग जो समाज में रहते हैं परिवार में रहते हैं और एक संसार के संपर्क बनाकर जीवन यापन करते हैं उस स्तर की चर्चा आप देख लीजिए उसमें क्या कहा जा रहा है तो आज के आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ता यह कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वाभाविकता से शांति रहती है और जब उसके भीतर कोई एक नया संकल्प उस पर खड़ा हो गया तो संकल्प की उत्पत्ति मात्र से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसमें एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है मनुष्य अपने भीतर भीतर बेचैनी अनुभव करने लगता है और जब वह संकल्प पूर्ति के सुख से प्रेरित होकर कि यह बात मेरे मन की पूरी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा तो संकल्प पूर्ति के सुख के लालच में पड़ के फिर वो अपनी शांति से विचलित हो गया और बहुत ही गतिशील हो गया दौड़ में प्रयास में लग गया ऐसा करेंगे तो ये वस्तु मिल जाएगी यहाँ जाएंगे तो ये काम बन जाएगा अस्त व्यस्त हो शांति से हट गया और गतिशीलता में क्रिया में व्यस्तता में फंस गया यही का विधान बड़ा विचित्र है जिन जिन संकल्पों की पूर्ति का लालच लेकर हम जगत में प्रवृत्त होते हैं तन से मन से इंद्रियों से बुद्धि से हाथ पांव से सामान से व्यक्तियों से सब से संपर्क जोड़ते हैं तो उस उन सब संकल्पों की पूर्ति होती नहीं है कभी कभी पूरी हो जाती है कभी कभी पूरी नहीं होती है तो संकल्प की पूर्ति हो गई तो थोड़ी देर के लिए सुख मालूम होता है और संकल्पों की पूर्ति नहीं हुई तो थोड़ी देर के लिए बड़ा दुख मालूम होता है ऐसा आपने कभी अनुभव किया है कि नहीं किया है ये दशा है ये जीवन का सत्य नहीं है ये दशा है तो जिन्हें वस्तुओं की सहायता से जिन व्यक्तियों की सहायता से संकल्प पूरे हो जाते हैं उन व्यक्तियों के प्रति एक राग बन जाता है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है इसने मेरा ये काम निकाल दिया जिन वस्तुओं से संकल्प पूरी हो पूरे हो जाते हैं उन वस्तुओं के प्रति एक आसक्ति बन जाती है एक भूमिका बन जाती है ये वस्तु को ऐसे समय पर खूब नाम आई है तो अब ये मेरे ही पास रहे तो बहुत अच्छी बात है तो वस्तुओं के प्रति लोग और व्यक्तियों के प्रति राग क्यों पैदा हुआ मुझमें क्योंकि मैंने संकल्प पूर्ति के सुख को पसंद किया उस सुख के लालच में पड़कर मैंने शरीर और संसार से संबंध बनाया अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो परिणाम में क्या मिला मुझे वस्तु का लोग और व्यक्ति का बोलो राग ये मिला अब आप देखिए इच्छाओं की पूर्ति से मनुष्य अपने को बड़ा भाग्यशील मानता है लोभ पैदा कर लिया और राग पैदा कर लिया परिणाम क्या हो गया शांति से दूर हो गए वस्तुओं के पीछे हम दौड़े थे क्यों तुम पूछे भैया क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं क्यों इतना दौड़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि अमुक अमुक वस्तु मुझे चाहिए मिल जाएगी तो बड़ा आराम मिलेगा यही है ना किसी पद के पीछे दौड़ रहे हैं किसी अधिकार के पीछे पड़े हुए हैं क्यों भाई आप क्यों इतने दिन रात हैरान हो रहे हैं क्योंकि यह पद मुझे मिल जाएगा तो बड़ा आराम होगा तो सोच के आदमी चलता है कि ऐसा करेंगे तो बड़ा आराम होगा आराम होगा ऐसा हम सोचते ही है लेकिन वस्तुओं के पीछे और व्यक्तियों के पीछे परिस्थितियों के पीछे दौड़ने में आराम से व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है प्रयास अगर सफल हो भी गया दौड़ धूप चेष्टा करने से आपको कोई पद मिल भी गया तो वस्तुओं के प्रति लोभ और व्यक्तियों के प्रति राग अपने में उपज जाएगा और लोभ तथा राग जब तक अपने भीतर रहेगा आराम का तो कभी दर्शन होगा ही नहीं तो शरीर के संबंध से पिताजी जो थे बचपन में उनके मुख से मैं सुना करती थी आए थे हरिभजन को उर्दन के कपास उस बात को तो ऐसे इनकार करते थे क्या करने आए थे क्या करने लगे अरे भाई इस दुनिया में भी दौड़ धूप तुमने आरंभ किया था आराम के लिए और सारी चेष्टाओं का परिणाम क्या निकला राग और लोग विकारों की उत्पत्ति भीतर की नीरसता अब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो ये है कि मनुष्य को संकल्प की पूर्ति से इच्छा की पूर्ति जो होती है तो उसको भीतर अपने बड़ा सुख मालूम होता है तो मनोविज्ञान व्यक्ता करते हैं सुख मालूम होता है तो आदमी वस्तु को पकड़ लेता है कि ये वस्तु बड़ी सुखद है यह स्थान बड़ा सुखद है यह व्यक्ति बड़ा सुखद है बाहर बाहर वो पकड़ लेता है लेकिन सच्ची बात क्या है कि तुम तो अपनी शांति में विराजमान थे जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा पैदा नहीं हुई थी तो स्वभाव से तुम्हारे अंदर शांति थी संकल्प के उठने से इच्छाओं के पैदा होने से वह तुम्हारी स्वाभाविक शांति बिखर गई मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया एक तनाव पैदा हो गया इच्छा पूर्ति जो अच्छी लगी तुमको तो वो वस्तु अच्छी नहीं है तुम्हारे मस्तिष्क में तनाव पैदा हो गया था तो इच्छा की पूर्ति से वो तनाव थोड़ी देर के लिए ढीला हो गया सुख जो तुमको मालूम हुआ वो बाहर की वस्तु के कारण नहीं हुआ भीतर में कुछ देर के लिए उत्पन्न हुए संकल्प में मूर्ति के आधार पर थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क का तनाव चला गया तो, तो मस्तिष्क में तनाव पैदा होने से हम बहुत अधिक गतिशील हो गए थे मस्तिष्क का तनाव ढीला हो गया तो बड़ा सुख मिला तो आराम तुम्हारे भीतर की संतुलन के कारण से हुआ कि बाहर की वस्तुओं से हुआ ठीक अब देख लीजिए इस पर ध्यान कभी जाता है ध्यान नहीं जाता ये पद मिल गया तो बड़ा सुख मिला ये इस व्यक्ति से भेद हो गई तो बड़ा मजा आ गया इस स्थान पर पहुंच गए तो बड़ा सुख हो गया लेकिन इसका अर्थ वो तो है ही नहीं है अन्यथा उसका प्रमाण देख लीजिए विज्ञान नेता कहते हैं कि एक वस्तु के लिए आप बड़े नालायक से बड़े दौड़ धूप कर रहे थे तो करते करते चेष्टा करते करते वस्तु आपको मिल गई तो जिस क्षण वो वस्तु मिल गई उस क्षण आपके भीतर जितनी प्रसन्नता थी दो चार घंटे के बाद दो चार दिन के बाद वो वस्तु आप ही के कब्जे में है आप ही के अधिकार में है लेकिन जिस समय आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि इच्छित वस्तु मिले उस समय जितनी खुशी थी बाद में उतनी खुशी है क्या तो वस्तु तो है आपके पास खुशी क्यों नहीं है अगर उस वस्तु में खुशी है वो वस्तु अगर आपके लिए सुखद है तो वस्तु के रहते रहते आपकी खुशी जानी नहीं चाहिए लेकिन जाती है कि नहीं जाती है किसी पद के लिए आप बड़े लालायक हैं जो नहीं करना चाहिए सो कर रहे हैं संकल्पों का वेग व्यक्ति के भीतर उठता है तो ना उनसे कर्तव्य सूझे ना उनसे परमात्मा की याद आवे ना उनसे निज स्वरूप की याद आवे ऐसा व्यक्ति संकल्प पूर्ति के सुख के आकर्षण से मनुष्यता के स्वयं से नीचे उतर जाता है होश ही नहीं रहता है उसे कि मैं मनुष्य हूँ या भी नहीं रहता किसी तरह ये पद मुझे मिल जाएगा बड़ा आराम हो जाएगा मिल तो गया सही प्रकृति का विधान बड़ा विचित्र है सृष्टिकर्ता का विधान बड़ा विचित्र है कभी कभी मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है तो मिल तो गया सही लेकिन जिस समय वो मिला उस समय आपको जितनी खुशी मालूम हुई भीतर से जितना आराम लगने लगा उसी पद पर प्रतिष्ठित हुए उसी पद पर बैठे बैठे एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन जो जो समय बीतता जा रहा है वो प्रारंभिक खुशी खत्म होती जा रही है और एक समय ऐसा भी आ जाता है उसी मनुष्य के सामने कि उस पद पर बैठे रहना ही उसके लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है तो अगर उसमें सुख है भीतर से जो आपको आराम मिला अगर वह पद का आराम है तो पद के रहते रहते ये आराम आप क्यों अनुभव करने लगे सोचने की बात है कि नहीं ठीक सोचिए ये हो गई वैज्ञानिक स्तर की बात आज के मनोविज्ञान व्यवस्था इस परिणाम पर पहुँचे कि भाई इच्छाओं की पूर्ति से सुख से मालूम होता है उस सुख को वस्तुओं पर आरोपित मत करो व्यक्तियों पर आरोपित मत करो इस इस विज्ञान के सत्य को जान लो ये आराम जो मिला वो मानसिक तनाव खत्म होने के कारण आराम मिला आगे चल के कष्ट क्यों हो गया आगे चल के कष्ट ये हो गया कि वो वस्तु तो आपके पास रखी हुई नहीं है भीतर से कोई दूसरा संकल्प पैदा हो गया तो भीतर फिर नया टेंशन आरंभ हो गया नया तनाव खड़ा हो गया तो वो वस्तु भाड़ में जाए अब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है क्योंकि अब नया संकल्प उठ गया तो उसके पीछे चलो ठीक है समझ में आ गया अब चलिए संतों के पास चले और इससे काम तो चला नहीं न वस्तुओं ने आराम दिया न व्यक्तियों ने आराम दिया न पद ने आराम दिया न न वस्त्राभूषण ने आराम दिया न महल अजारी ने आराम दिया इनसे आराम नहीं मिला ये तो हमको मिलते गए और ये फीके प्रमाणित होते गए देखिए सृष्टि का विधान कितना मंगलकारी है संसार किसी को धोखे में नहीं लगता है आप इनके पीछे दौड़ते हैं और परम कृपालु कृपा करके उन्होंने इतना बढ़िया विधान बना दिया है कि कुछ इच्छाएं तुम्हारी जरूर पूरी हो जाएंगी और कुछ इच्छाएं तुम्हारी हरगिज पूरी नहीं होंगी ऐसा उन्होंने विधान बना दिया है तो संसार किसी को धोखे में नहीं रखता संसार के किसी भी रूप को पकड़ करके आप बैठिए थोड़ी ही देर में आपको इस बात का पता चल जाएगा कि इसमें सार नहीं है क्यों नहीं है जो आराम मैंने इस वस्तु में समझा था वो आराम इस वस्तु में तो है नहीं क्योंकि ये मेरे पास रखी हुई है हर प्रकार से सुरक्षित है फिर भी मेरे भीतर तनाव पैदा हो गया फिर भी मेरे भीतर नीरसता पैदा हो गई फिर भी मेरे भीतर विकार पैदा हो गए वे आराम हो गया तो संसार के स्वरूप का परिचय मिल गया अपने को मुझे जब परिचय मिल गया तो मैंने भीतर ही भीतर सोचा क्या सोचा कि अपनी बुद्धि से जो जो समझ में आता था सब मैंने करके देखा कहीं भी मुझको स्थिरता नहीं मिली शांति नहीं मिली अचल आधार नहीं मिला तो अब क्या करें जो कुछ है पढ़ने लिखने का शौक था सब पूरा करने के बाद भीतर से एक राह सूझी और ऐसा लगने लगा कि अब तो कोई भगवान के घर का दरवाजा देखा हुआ संत मिले तो हमको दरवाजा दिखा दे ये बात पैदा हुई तो अब जब संतों के पास व्यक्ति जाता है अनुभवी जनों के पास व्यक्ति जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है न महल है न अकाउंट है न कुछ नहीं है और वो आनंद में मस्त है तो ऐसा जब हम लोग देखते हैं तो उनके प्रति बड़ा आकर्षण होता है एक विनोद की बात याद आ गई स्वामी जी महाराज एक गृहस्थ के घर में ठहरे थे तो रात में उनके घर में चोर आ गए कुछ सामान चोरी हो गया स्वामी जी महाराज ने स्नान किया होगा और कटी वस्त्र पहनते थे तो इतना चौड़ा इतना लंबा लंबा दो तो टुकड़ा होता है कटी वस्त्र संतों का स्नान किया होगा शाम के समय घर के आंगन में उन गृहस्थ के आंगन में डाल दिया गया था सूखने के लिए चोरों ने कोई सामान बांधने के लिए उसमें से एक पीस ले लिया लेके बांध दिया चले गए होंगे बड़ा शोरगुल हो गया सवेरे सवेरे उठ करके भाई सामान चला गया चला गया चोरी हो गई तो महाराज जी ने अपने गृहस्थ मित्र को बुला के बैठाया और कहा कि कहो भाई क्या हाल है महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया तुम्हारी पूरी संपत्ति का कौन सा प्रसंगित गया होगा उन्होंने सोचा तो अच्छे संपत्तिशाली व्यक्ति थे और थोड़ी मामूली चोरी हुई तो कहने लगे कि स्वामी जी कोई खास परसेंटेज को नहीं मालूम होता है यही बस आठ नौ हजार का सामान गया होगा तो मैं समझता हूँ कि एक एक बटा बीस भाग भी नहीं हुआ होगा तो स्वामी जी महाराज खूब हंसे और हंस करके कहते हैं अरे यार तब क्या मन उदास करते हो देखो तो हमारा तो पचास प्रतिशत खुला गया दो पीस कटी है कोई संपत्ति है उसमें से एक उन लोगों ने ले लिया था अरे यार क्या दुख मानते हो तुम्हारा तो कुछ गया ही नहीं हमारा तो पचास प्रतिशत चला गया तो बड़ा आकर्षण हम लोगों को होता है कि उनके पास कोई सामग्री नहीं है कुछ नहीं है और वे कितने आनंदित हैं तो चल के उनसे पूछो तो सही कि उनके आनंद का आधार क्या है और उनको यह आनंद कैसे मिला है तो आदमी का ध्यान जाता है जीवन में प्रधानता किस बात की है तो प्रधानता वस्तु की नहीं है प्रधानता इस बात की है कि तुमको आराम कितना है प्रधानता संपत्ति की नहीं है प्रधानता इस बात की है कि तुमको शांति कितनी है प्रधानता बड़े भारी पद की और बड़े भारी सम्मान की और और बड़े अच्छे कुटुंब की नहीं है प्रधानता इस बात की है कि तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता कितनी रहती है ठीक है अब इस दृष्टि से जीवन को देखना तो किसी के पास कपड़ों का अंबार बिखरा होगा और किसी के पास रोहित वस्त्र होंगे तो दोनों में परस्पर में दीनता और अभिमान की कोई बात नहीं है बड़ा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को माताओं बहनों का हाल तो मुझको ज्यादा मालूम है कि मैं इसी वर्ग में रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए दिल छोटा हो जाता है जरा जरा सी बात के लिए परस्पर में कम्पिटिशन करके कहीं पर अभिमान आ जाता है कहीं पर दीनता आ जाती है इसी आधार पर मेरे पास बहुत कपड़े हैं मेरे पास बहुत गहने हैं मेरे पास ये सामान है मेरे पास वो सामान है तो सोचो भाई हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हर भाई हर बहन को आराम चाहिए शांति चाहिए विश्राम चाहिए प्रसन्नता चाहिए कहीं भी नहीं चाहिए मित्रता चाहिए निश्चिंतता चाहिए तो अब सोच के देखना मैं मुझको अपना चित्र दिखाई दे रहा है संत मिलन के पहले का तो मैं देख रही हूँ कि छटपटी जो लगी रहती है दौड़ धूप जो मुखी रहती है तो उसमें आदमी की दृष्टि शांति पर कम जाती है प्रसन्नता पर कम जाती है और वस्तुओं पर ज्यादा जाती है ये सामान आ जाएगा तो अपने को बड़ा अच्छा लगेगा ये अच्छा क्या लगेगा भाई अच्छा लगने वाला जो जीवन है वो तो तुम्हारे भीतर है जो अच्छा लग सकता है और जो सदा के लिए अच्छा लग सकता है जिसकी मधुरता कभी घटती ही नहीं है दिन दिन बढ़ती चली जाती है जिसकी प्रियता का रस कभी सूखता ही नहीं है उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है वो तो तुम्हारे भीतर है इस बात का पता कब चलता है जब अपने ही आनंद में मस्त अनुग्रह संगठन के पास बैठे तो मुझे काफी समय लगा इस बात को सोचने में कि क्या करने से जीवन अच्छा लगेगा तो बाहर से कुछ भी करने से अच्छा नहीं लगा संत के पास बैठने से पता चला कि भाई जो अच्छा लगने वाला है जो कभी न मिटने वाला है जो सदा ही साथ देने वाला है जिसकी संगति सदैव प्रिय लगती है वो तो तुम्हारे भीतर है उस पर तुम्हारी दृष्टि गई नहीं और वो कभी भी स्थिर रह नहीं सकता जो कभी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता उस प्रतीक होने वाले जगत के पीछे दौड़ने से यह थकान है ये रस्ता है मृत्यु का भय है ये सारी दुर्दशा है इस बात का मुझे पता चला तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे जो चाहिए वो मेरे ही भीतर है उसी दिन से बाहरी वस्तुओं पर से दृष्टि हट जाने के कारण से बड़ा आराम हो गया इसको मैं सत्संग कहती हूँ आप भाई बहनों की सेवा में यह निवेदन कर रही हूँ मैं कि सत्संग कोई क्रिया नहीं है कोई अभ्यास नहीं है कि साल साल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो कोई लिमिट बना दिया जाए कोई सीमा बना दी जाए कि पंद्रह बरस तक लगातार यहाँ पर आते रहोगे सत्संग तो सुनते रहोगे तो तुम्हारे दूध का भार हल्का हो जाएगा तो पंद्रह बरस पूरे न हो पाए बीच ही में राम तो ऐसा नहीं है ऐसा कभी मत सोचना मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से इस बात को अनुभव किया तो कि सत्संग कहते ही है उसको कि आपने ग्रंथों में से पढ़ा संतों के मुख से सुना परस्पर बैठ करके विचार किया और विचार करते ही करते जीवन का सत्य आपकी दृष्टि में आई और उसको आपने सही मानकर स्वीकार किया नहीं कि दुख का भार उतर गया ऐसा होता है तुरंत का तुरंत होना चाहिए इंसान जो है अपने स्वरूप का परिचय देता है अवश्य अगर आप सजगता पूर्वक जीवन की घटनाओं को देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देता है कि संसार हम लोगों से जैसे कि कहता हो कि भाई देखो मुझे विश्वास मत करो कहता है कि नहीं फिर भी हम लोग मानने को तैयार नहीं फिर भी कहते हैं चाहे भले तुम नाचवान हो हम तो तुम्हें को पकड़ के बैठेंगे तो प्रकृति का विधान ये है कि पकड़ के बैठोगे तो मुठ्ठी में से वो भी टूट जाएगा और तुम्हारे भीतर की शांति भी चली जाएगी आराम भी चला जाएगा प्रसन्नता भी चली जाएगी इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि सत्संगी होकर सत्संग के नाते आप आ करके यहाँ बैठते हैं तो सत्य की चर्चा में से आवश्यक बातों को इस प्रकार से पकड़िए अपने लिए कि आपके भीतर की दीनता और अभिमान खत्म हो जाए बहुत वस्तु मेरे पास रहेगी तो मेरा मूल्य बढ़ेगा तो महाराज जी कहते हैं अरे भैया अगर मुझे मकान में रहने से तुम्हारा मूल्य बढ़ता है तो मकान मूल्यवान हो गया तुम्हारी कीमत क्या रहेगी अगर अच्छे अच्छे भूषण से तुम अपने को गौरवशाली मानते हो तो वस्त्र और आभूषण का मूल्य बढ़ गया तुम्हारा मूल्य क्या रहा तो जिस सजग मानव के भीतर जिसके भीतर ज्ञान स्वरूप विद्यमान है जिसके भीतर प्रेम स्वरूप की मधुरता लहरा रही है जिसके भीतर चिर शांति मौलिक रूप में विद्यमान है उसका मूल्य इस पत्थर से बनेगा उसका मूल्य मोटर और टेलीफोन से बनेगा तो ये वस्तुएं अगर तुम्हारे पास आ जाए तो ऐसा ही सोच लेना कि मुझे करने का राग रहा होगा तो मेरे प्यारे ने अपने मंगलकारी विधान के अनुसार मुझे राग मुक्त करने के लिए यह सब दे दिया है लाओ इनका जल्दी जल्दी उपयोग करके इनके राग से मुक्त हो जाओ और नहीं है ये सब सामान अपने पास नहीं आते हैं तो अपने को सावधान रखो वस्तुओं के अभाव में अपने को भाग्यहीन मत मानो जितनी कम वस्तुएं आएंगी उतनी ही कम प्रवृत्ति का दायित्व तुम पर आएगा ये नहीं समझ में आता है तो वस्तुओं का कम आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है वस्तुएं कम आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरे मालिक मुझको ज्यादा भार नहीं दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा आ गए थोड़ा थोड़ा बांट लिया जल्दी प्रवृत्ति खत्म हो गई तो जल्दी से उनकी स्मृति में खो गए और ज्यादा ज्यादा सामान उन्होंने दे दिया कि तो ज्यादा ज्यादा रक्षा करो ज्यादा ज्यादा बांटो ज्यादा ज्यादा काम में लाओ सड़ में जाए खो न जाए बर्बाद में हो जाए प्रकृति की संपत्ति है तो खोएगा भी क्यों तो प्रकृति की संपत्ति है तो सड़ेगा भी क्यों प्रकृति का सामान है तो बर्बाद भी क्यों होगा परमात्मा की सृष्टि है तो उनकी संपत्ति बिगाड़ेंगे भी क्यों भरतलाल जी के चरित्र में वो वो संवाद जहाँ आता है सोच रहे हैं जिंदगी भीतर किसी को जाना है भेंट करने के लिए बिना बिना रहा ही नहीं जाता तो कह रहे हैं कि ये राज्य कोष भंडार प्रजा सारे सब कुछ को नाच चुका है तो अगर मैं यूं ही छोड़ करके चला जाऊं तो बड़ा भारी दोष लगेगा सेवक धर्म से मैं वंचित हो जाऊंगा तो मुझको तो सब संभालना ही चाहिए और दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि देखो उनके मन में राज का लालच तो था ही सब षडयंत्र इन्हीं का रचा हुआ है अब ये कितने प्रेम से सेना और भंडार और और राज्य और राजधानी की रक्षा का इंतजाम कर रहे हैं जरूर उनको लोग रहा होगा तो भरतलाल जी कह रहे हैं कि लोग मुझको कुछ भी समझे और करने वाले कुछ भी कहें लेकिन ये सब संपत्ति रघुपति गए आदि ये सब कुछ उनका है ये तो कुछ सुनता है तो इसको छोड़ करके मैं चला जाऊँ तो सेवक धर्म से वंचित हो जाऊंगा तो इतना प्यारा लगता है मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैं क्या बताऊं कोई तो कोई भाई कोई कोई बहन मुझसे प्रश्न करते हैं चार से छह बजे में बैठती हूँ वहाँ जाने को तो बातचीत करने के लिए तो कोई कोई आकर के कहते हैं कि अगर हम परिवार को अपना न माने बच्चों को अपना न माने संपत्ति को अपना न माने तो उनकी रक्षा करने में उनकी सेवा करने में हमारे भीतर क्या उतनी ही खुशी रहेगी तो मैं कहती हूँ की एक बार करके तो देखो उससे दोगुना अधिक चाव बढ़ जाए अनित्य संबंध मान करके अगर तुम्हारी इतनी रुचि उसमें लग रही है तो नित्य संबंध मानने के बाद ममता और कामना से मुक्त होने के बाद उसमें कोई कमी आएगी कमी नहीं आती है तो बड़ा भारी भ्रम है तो मैं क्या बताऊँ मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी सिर्फ बात करने का मौका न मिले गंगा के तट पर बैठने का मौका न मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं अगर वो मनुष्य है और अपने ही जीवन की घटनाओं को देख करके विचार करे तो उसे स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्या आराम कहाँ है शांति कहाँ है प्रियता कहाँ है प्रसन्नता कहाँ है तो बाहर बाहर तो कहीं है नहीं भाई तो या तो वो समर्थ है तो नहीं को नहीं जान कर ही उसको अस्वीकार कर देगा तो है कि व्यक्ति में जीवन की पूर्णता हो जाएगी और उससे न रहा जाए तो सब ग्रंथों का अवलोकन कर ले इसमें सब बातें लिखी हुई हैं विषय उसको पाठ मिल जाएगा अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है नहीं नहीं योग्यता है तो किसी अनुभवी संत के पास बैठ जाए उनसे विचार विमर्श कर ले उनकी बातों में आस्था कर ले उसको भी उसका काम चल जाएगा हर प्रकार से उसका विकास हो सकता है और मैंने बहुत ही बेबसी में पड़ी हुई महिलाओं को देखा है उनके जीवन के उत्थान को देखा है अगर किसी प्रकार से उनके परिवार के लोग साधु संत के पास जाने के लिए बैठने के लिए घर में से निकलने नहीं देते हैं और फिर भी उनके भीतर आवश्यकता है जिज्ञासा है उनके जीवन की प्यास है तो परम कृपालु संत घूमते घामते उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको सच्ची बात बता करके चले जाते हैं मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो घर में से किसी प्रकार से बाहर निकल नहीं सकते असमर्थता के कारण या या पारिवारिक प्रतिकूलता के कारण तो उनको स्वप्न में सन्मार्ग दिखा दिया जाता है तो स्वप्न में देखते हैं कि कोई संत आए और ऐसा ऐसा काम करके चले गए तो ये सारी बातें जीवन में होती हैं इन्हीं के आधार पर मैंने स्वामी जी महाराज की सलाह मांगी कौन सी सलाह कि तुम्हें अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुभव करो तुम और उसकी पूर्ति का इंतजाम करेंगे जीवन दाता परमात्मा अगर तुम्हारे भीतर साधन करने में असमर्थता है तुमसे होता ही नहीं है किसी प्रकार से तो जिस बुराई को छोड़ना चाहते हो उस बुराई के न छोड़ सकने के कारण से बालक की तरह अधीर होकर रोने लग जाओ तुम हाय मैं क्या करूँ मांसाहार अनुचित है उस स्वाद का रत्न से तो थोड़ा ही मिल जाता है वो तो वासना मेरे भीतर से निकाली ही नहीं जाती है तो जिस बुराई को न छोड़ सकने के कारण तुम व्यसन हो जाओगे वो बुराई स्वतः छूट जाएगी और जिस अलौकिक तत्वों की अभिव्यक्ति के बिना तुम व्यसन हो जाओगे वे अलौकिक तत्व स्वतः ही तुम्हारे में अभिव्यक्त हो जाएंगे अब इससे भी अधिक आसान कोई रास्ता ढूंढता हो तो गलत बात है इसका मतलब है कि वो चलना ही नहीं चाहता तो कई जगह पर परिवार में बड़ा भाई एक एक अप्रियता का वातावरण बन जाता है पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि की अभिव्यक्ति अपने ही में जो विश्राम विद्यमान है अपने ही जो शांति स्वाधीनता और प्रेम का एक विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य बाहरी किसी बात पर पराधीन नहीं है तो परस्पर में संघर्ष हो जाए पति निकलना चाहते हैं तो पत्नी बाधक बन जाए पत्नी निकलना चाहे तो पति बाधक बन जाए तो ऐसी ऐसी बातें सब होती रहती है ऐसा मालूम होता है कभी कभी कि सत्संग का प्रोग्राम जो है वो आराम देने, देने वाला न हो करके घर में कलह पैदा करने वाला हो गया कहीं कहीं ऐसा भी होता रहता है तो सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही आत्मीयता के साथ मैं सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि सचमुच आप बिल्कुल इस इस बात को जीवन का सत्य कहकर स्वीकार करिए कि आप जो चाहते हैं शांति स्वाधीनता उदारता निर्भयता निश्चिंतता सरसता और अमरत्व ये जो आपकी मांग है उसकी पूर्ति संसार की किसी वस्तु से नहीं होगी किसी व्यक्ति से नहीं होगी पहली बात तो ये स्वीकार कर लो और दूसरी बात ये है कि आपकी जो मांग है वो आप ही में विद्यमान है और उसकी अभिव्यक्ति के लिए केवल केवल तीव्र आवश्यकता अनुभव करना जरूरी है बाकी और बाकी करने के जितने कार्य हैं वो केवल सेवा के लिए है बाकी करना कुछ नहीं है सबके की अभिव्यक्ति के लिए कुछ करने की बात है ही नहीं करने चलोगे तो शरीर का सहारा पकड़ोगे शरीर नाशवान है नाशवान का सहारा पकड़ के अभिनाशी की अभिव्यक्ति होगी जहाँ करने की बात नहीं है वहाँ पराधीनता है कोई पराधीनता नहीं है घर में किसी प्रकार के खटपट की अप्रियता पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है अकेले अकेले बैठ करके विचार करते जाओ जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते जाओ जीवन के सत्य को स्वीकार करते जाओ तुम्हारे ही भीतर से राग मिट जाएगा छोड़ मिट जाएगा कामना मिल जाएगी अभिमान मिल जाएगा दीपता मिल जाएगी भीतर को शांति विद्यमान नहीं है इसे खोजने से हम बाहर जाने नहीं है अब शांत हो जाएगी संसार उसी को प्यार करता है जो संसार के काम आता है संसार के काम वही प्राणी आता है जो सब प्रकार से भगवान का हो जाता है संसार की दासता मन से निकाल दो यही त्याग है संसार से अपना मूल्य बढ़ा लो यही तप है अपनी प्रसन्नता के लिए किसी अन्य की ओर मत देखो यही मुक्ति है सब प्रकार से प्रेम पात्र के हो जाओ यही भक्ति है मैं उनका हूँ वे मेरे हैं इस भाव को दूरता से उनकी याद सतह आती है उनके बिना कल नहीं करती यह भक्त की प्रथम अवस्था है वे मेरे हैं इस भाव की दूरता से उनका ध्यान स्वतः होता है ध्यान आते ही असह्य वेदना होती है यह भक्त की दूसरी अवस्था है उनके सिवाय किसी काल में और कुछ है नहीं इस अनुभव से अखंड प्रसन्नता होती है यह भक्त की अंतिम अवस्था है पूजन पूज्य पुजारी तीनों के एक हो जाने पर आनंद का अनुभव होता है मन इंद्रिय आदि जिन साधनों से प्रियतम की आराधना की जाती है वही पूजन है कर्तापन का भाव ही पुजारी है प्रेमी का स्नान क्या है पूर्ण प्रेमी का ध्यान क्या है अपने आप को मिटा देना प्रेमी की पूजा क्या है सच्ची व्याकुलता प्रेमी का पाठ क्या है môn